as I said in uh, uh, last uh, poem, मदन मोहलवी की कविताओं में सिर्फ डर खौफ और बंटवारा ही नहीं है बल्कि बहुत संजीद की प्यार और मोहब्बत की एक बेचैन तड़प भी है ये नज़म तू आएगी कैसे एक तरह से उसकी परिभाषा है उसकी उसकी पहचान है ग्रोइंग अप ये नज़म मेरी यादाश्त में थी और अपनी टूटी फूटी उर्दू में मैं इसको बतौर मुजवानी जहाँ तहाँ पढ़ देता था बहुत सारी तालियाँ भी इसके लिए मिलती थी तो मेरी बहुत अजीज़ नज़म है ये तो आएगी कैसे समात फरमाएं रात के अंधेरे में चुपके चुपके होले होले तू आएगी तो आएगी कैसे एक रात है अंधेरी पुरपेच राहों पे पत्थर हैं कांटे हैं साय भूत से दरख्तों के खड़ा के खुश्क खुश्क पत्तों के हवा के तेज़ तेज़ झोंके आंचल से लिपट के तेरी राह रोकेंगे तू आएगी तो आएगी कैसे एक रात है अंधेरी पुरपेच राहों पे पत्थर हैं कांटे हैं साय भूत से दरख्तों के खड़ा के खुश्क खुश्क पत्तों के हवा के तेज़ तेज़ झोंके आंचल से लिपट कर तेरी राह रोकेंगे तू आएगी तो आएगी कैसे सुनसान सड़कों पे बियाबान सड़कों पे शहर के आवारा कुत्ते कुत्तों की सदाएं खौफ जी पे छाएगा पाँव लड़खड़ाएंगे तो आएगी तो आएगी कैसे यूं तो तेरे और मेरे दरमिया यूं तो तेरे और मेरे दरमिया थोड़ा सा फासिला है मगर मेरे गिरदोनवाह दूर तक टूटे फूटे झोंपड़ों का लंबा सिलसिला है उरियाँ नीम उरियाँ बदन बौसीदा हड्डियाँ हड्डियों के जिसम बेनूर चेहरे बुझी बुझी सी आँखें मुफलिसों का जमघट है गोया हसरतों का पनघट है हज़ारों फाकाकश मासूम बच्चे मेरे आस पास रहते हैं मुझे अपना समझते हैं गुज़र कर इन तंगो तारीख गलियों से तो आएगी मेरे ख्यालों की परी बहुत मुश्किल सा लगता है मगर न जाने क्यों फिर भी दिए की कांपती सी लौ कहती है तू आएगी तू ज़रूर आएगी तो दो पहलू हैं इस नज़म के एक तो चित्रकारी है इसके अंदर एक सिचुएशन की ओवर ड्रामेटाइजेशन है और ऐसा लगता है कि शायर के पास एक ओपन कैनवस है and he is trying to paint the words और उसी हिसाब से जो जो लफ्ज़ों का इसमें चुनाव है और जो शब्द चयन है बड़े सख्त शब्दों को चुना है खुश्क खड़ा के खुश्क खुश्क पत्तों के शहर के आवारा कुत्ते कुत्तों की सदाएं तो शब्द ऐसे हैं जो एक तरह से आपको हिट करते हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि एक एंडलेस होप है इसके अंदर एक इंतज़ार ऐसा लगता है कि जैसे राज कपूर की कोई पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी का एक सीन है जिसमें हालात का खस्तापन लेकिन साथ ही साथ आंखों में एक एक होप की चमक एक आशा की चमक साय भूत से दरख्तों के खड़ा के खुश्क खुश्क पत्तों के हवा के तेज तेज झोंके आंचल से लिपट के तेरी राह रोकेंगे अब एक सिंपल बात है कि रात के अंधेरे में चल के आना बहुत मुश्किल है उसको शायर ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि कि सुनसान सड़कों पे बियाबान सड़कों पे शहर के आवारा कुत्ते कुत्तों की सदाएं खौफ जी पे छाएगा पाँव लड़खड़ाएंगे तो आएगी तो आएगी कैसे अब दूसरी तरफ जो होप है यूं तो तेरे और मेरे दरमिया थोड़ा सा फासिला है एक तरफ एक एक फाइव स्टार अमीरी है और दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोंपड़ा है और बीच में से एक सड़क जो गुज़र रही है उसको क्रॉस करना from a distance stand point बहुत छोटा सा रास्ता है यूं तो तेरे और मेरे दरमिया थोड़ा सा फासिला है मगर मेरे गिरदो नवा यानि आस पास दूर तक टूटे फूटे झोंपड़ों का लंबा सिलसिला है उरिया नीम उरिया वदन नंगे और अर्धनगन जिनके पास पहनने को उनको कपड़े भी नहीं हैं बौसीदा हड्डियाँ जीर्ण शीर्ण हड्डियाँ बूढ़े और हड्डियों के जिसम बेनूर चेहरे ऐसे चेहरे जिनसे जिन पे कोई रोशनी नहीं है बुझी बुझी सी आंखें मुफलिसों का जमघट है गरीब लोगों का एक हुजूम है गोया हसरतों के पनघट हैं हज़ारों फाका कश मासूम बच्चे मेरे आस पास रहते हैं हज़ारों की तादाद में भूखे मेरे चारों तरफ हैं मुझे अपना समझते हैं गुजर कर इन तंगो तारीख गलियों से इन संकरी और अंधेरी गलियों से तू आएगी मेरे ख्यालों की परी बहुत मुश्किल सा लगता है देन द होप स्ट्राइक्स मगर न जाने क्यों फिर भी दिए की कांपती सी लो कहती है तू आएगी तू ज़रूर आएगी एक रात है अंधेरी पुरपेच राहों पे पत्थर हैं कांटे हैं साय भूत से दरख्तों के के खुश्क खुश्क पत्तों के हवा के तेज़ तेज़ झोंके आंचल से लिपट कर तेरी राह रोकेंगे तो आएगी तो आएगी कैसे सुनसान सड़कों पे बियाबान सड़कों पे शहर के आवारा कुत्ते कुत्तों की सदाएं खौफ जी पे छाएगा पाँव लड़खड़ाएंगे तो आएगी तो आएगी कैसे यूं तो तेरे और मेरे दरमिया थोड़ा सा फासिला है मगर मेरे गिरदो नवाह दूर तक टूटे फूटे झोंपड़ों का लंबा सिलसिला है उरिया नीम उरिया बदन बौसीदा हड्डियाँ हड्डियों के जिसम बेनूर चेहरे बुझी बुझी सी आंखें मुफलिसों के जमघट हैं गोया हसरतों के पनघट हैं हज़ारों फाकाकश मासूम बच्चे मेरे आस पास रहते हैं मुझे अपना समझते हैं गुज़र कर इन तंगो तारीख गलियों से तो आएगी मेरे ख्यालों की परी बहुत मुश्किल सा लगता है मगर न जाने क्यों फिर भी दिए की कांपती सी लौ कहती है तू आएगी तू ज़रूर आएगी thanks for listening this is the work of Madan Moholvi under the title Fikr ke Parinde you can get all these नज्म्स Shutri dot com this is work work under creative common license thanks once again